जिस दिन ये कब्रों से दौड़ते हुए निकलेंगे गोया कि वो किसी जगह की तरफ तेज तेज जा रहे हैं